ये हम जो कैंपेन चला रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं को देश के 80 करोड़ लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो एमपी एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजे क्या ऑर्डर भेजे जो भी उनको ठीक लगता है तो उसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आए एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि एमपी एमएलए का मोबाइल नंबर कहाँ से मिलेगा तो सारे सांसदों का मोबाइल नंबर अधिकतर सांसदों का मोबाइल नंबर पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा और एमएलए का नंबर आपको असेंबली के वेबसाइट से मिल जाएगा या आप गूगल करो एमएलए हाँ, का नाम और मोबाइल नंबर सेल नंबर इस तरह से गूगल करो तो अलग-अलग उनके वेबसाइट होते हैं वहां पे आपको मिल जाएगा फिर कुछ-कुछ सांसदों ने अपना मोबाइल नंबर वेबसाइट पे नहीं डाला जैसे एल के अडवाणी है अडवाणी साहब ने अपना मोबाइल नंबर वेबसाइट पे नहीं डाला तो उसमें आप क्या कर सकते हैं उसकी उसका सेक्रेटरी का मोबाइल नंबर वेबसाइट पे होता है आप उस एम एस से ऑर्डर भेजो और पहले एक ऑर्डर भेज दो कि dear secretary of mister so and so I request you to ask your MP to put his mobile number on Parliament House website so that we citizens can send him necessary orders via SMS. यानी कि सेक्रेटरी साहब हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने एमपी को बोलो, आप अपने सांसद को बोलो कि वो पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट पे अपना मोबाइल नंबर डाले ताकि हम जो सांसद को ऑर्डर भेजने हम सीधे भेज सके। ये एक एसएमएस भेजने के बाद आपको जितने भी ऑर्डर एमपी को भेजने वो सेक्रेटरी को भेजो ऊपर एक लाइन लिख दो कि I request you to forward this order to your MP, mister So and So. यानी कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो ऑर्डर हमने SMS में नीचे लिखा है वो आप अपने एमपी को फॉरवर्ड कर दो दूसरा कि हर एक एमपी के अंडर में सात एमएलए होते हैं छह सात एमएलए होते हैं उनमें से कोई एक दो ऐसे एमएलए ढूंढो जो कि उसी पार्टी को बिलोंग करते हो जैसे अडवाणी बीजेपी है तो उनके अंडर में सात एमएलए आते हैं उनमें से एक कांग्रेस का है बाकी छह बीजेपी है तो छह में से जिस एरिया में आप आते हो या तो पास के एरिया के एमएलए को यदि आप जिस एरिया में रहते हो उस एमएलए का भी मोबाइल नंबर नहीं है तो पास के एरिया का एमएलए का मोबाइल नंबर ले लो उसको आप ऑर्डर भेजो ऊपर एक लाइन लिख दो कि I request you to forward this order to MP mister so and so यानी उसी पार्टी का एमएलए है यानी उनका मिलना जुलना होगा रोज का हफ्ते में एक दो बार तो मिलते होंगे नहीं मिलते हैं तो भी वो एसएमएस से ऑर्डर फॉरवर्ड कर सकता है और या तो आप बीजे उस पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट हेड है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उस पार्टी के मान लो वो एमपी कांग्रेस का है तो कांग्रेस के उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी हेड है उसका मोबाइल नंबर आपको कांग्रेस के वेबसाइट पे मिल जाएगा या तो बीजेपी का जो है उसका वेबसाइट आपको मिल जाएगा आप डिस्ट्रिक्ट हेड को एसएमएस से ऑर्डर भेज सकते हो और ऊपर एक लाइन लिख दो कि I request you to forward this order to so and so MP यानी और मान लो वो कुछ नहीं मिले तो उसके पास का एमपी ले लो जो कि उसी की पार्टी को बिलोंग करता है जैसे कि अडवाणी है तो उनके पास दो कंस्टिट्यूंसी आती है Ahmedabad east Ahmedabad west Ahmedabad west के सांसद है श्री किरीट भाई सोलंकी अहमदाबाद ईस्ट के सांसद है श्री हरिन भाई पाठक तो आप उनको एसएमएस से ऑर्डर भेजो और ऊपर एक लाइन लिख दो कि I request you to forward this order to Mr. LK Advani. तो इस तरह से आप वो आदमी नहीं तो उसके पॉलिटिकल सर्कल में जो भी उसी की पार्टी का कोई और एमएलए, एमपी, एमपी हो या उसके डिस्ट्रिक्ट हेड हो उसको आप ऑर्डर भेज सकते हो इस तरह से पास हो जाएगा और एंड में तो एमपी की गलती है उसको आ, हमारे आ, ये सत्यार प्रकाश में लिखा है अथर्वेद में लिखा है कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए तो उसको अपना मोबाइल नंबर रखना चाहिए तो आप किसी और को भेज ಮಾಡಿದ್ದು ಧನ್ಯವಾದ